बस बसमीम वक़द तकुन फ़िल्मौज़ अलवाहिद महतमलन रिवजहनी अव अवजुहिन असमा सित्ता के अरब की बहस चल रही है कि असमा सित्ता के अरब वाब अलीफ और क्या के साथ आता है यहाँ ये बयान करना चाहते हैं कि भी एक ही महल के अंदर यानी इसमें असमा सित्ता में से कोई एक इसम होगा लेकिन उसके अंदर एराब की यानी रफान और यानी रफान नसब वाव अलीफ और या में से तीन यानी हालत रफ़ी में भी हो सकता है हालत नसबी में भी हो सकता है और हालत जर्री में भी हो सकता है यानी एक ही जगह के अंदर तीनों तीन वजूह एराब का अहतेमाल रखता है होगी हालत एक ही जगह यानी महल एराब एक ही होगा लेकिन वहां हालत रफ़ी भी हो सकती है हालत नसबी भी हो सकती है और हालत जर्री भी हो सकती है कभी तो दो भी हो सकती है कभी तीन भी हो सकती है उसको बयान करना चाह रहे हैं कि पहले मिसाल लाए इन नहाजा अखी लहू तिस तिस जतू देखो यहाँ असमा सित्ता में से कौन है अखी है अब देखो अखी तरकीब के अतबार से अखी यहाँ हालत रफ़ी में भी हो सकता है या हालत नसबी में भी हो सकता है हालत रफ़ी में तो क्यों कि इन्न की खबर हो इन्न की खबर हो इन्न की खबर हालत रफ़ी में होती है इसलिए अखी भी हालत रफ़ी में होगा तरकीब क्या होगी इन्ना हरूफ मुशबा बिल फैल हाजा उसका इसम अखी ये खबर है अव्वल और लहू तिसू तिसुन नाजतुन ये खबर है सानी तो हालत रफ़ी में क्यों है कि इन्ना की खबर है इन्ना की खबर हालत रफ़ी में होती है इसलिए अखी यहाँ हालत रफ़ी में दूसरा यहाँ अखी हालत नसबी में भी हो सकता है अखी इस जगह पर इस आयत के अंदर हालत नसबी में भी हो सकता है कि ये हाज, क्या है हाजा का बदल हो हाजा का बदल हो <clears throat> हाजा मुबदल मिन हो ये इन्न का इसम है इन्न का इसम मनसूब होता है तो उसका बदल क्या उसका बदल जो अखी है वो भी मनसूब होगा तो हालत नसबी में होने की वजह क्या हाजा का बदल जब हाजा इन्न का इसमें होने की वजह से मनसूब तो उसका बदल अखी ये भी मनसूब होगा तो इस आयत के अंदर अखी हालत रफी में भी हो सकता है मरफू भी हो सकता है और मनसूब भी हो सकता है मरफू तो क्यों हो इन्न की खबर और मनसूब क्यों हो हाजा का बदल अंदर देखो फल अव्वल का कौल ही ताला पहले की मिसाल पहले यानी अव्वल से क्या मुराद है मोहतमिल वजहन कभी तो असमा सित्ता दो वजह का दो वजूह अरब का अहतमाल रखते हैं वो मुराद है कि दो वजह अरब उसकी मिसाल क्या इन नहाजाखी लहू तिसो व तिसो नाजतन ये मेरा भाई है उसकी नन्नानवे दुम्बिया है फया तमिल अखी वजहनी अखी दो वजह का अराब एहतमाल रखता है अहद हुमा यकून बदलन मिन हाजा पहला कि ये हाजा का बदल हो फयकून मनसूबन तो वो मनसूब होगा लियनल बदल यदबाउल मुबदल मिनहू इसलिए के बदल मुबदल मिनहू का ताबे होता है मुबदल मिनहू हाजा है हाजा इन्ना का इसमें होने की वजह से मनसूब है तो उसका बदल अखी भी मनसूब होगा फकान कौल जैसा के कह रहे हैं इन अखी इन हाजा तो अखी तो गया के सीधा कह रहा है बदल मुबदल में आपने पढ़ा होगा कि बदल और मुबदल मिनहू उसको कहते हैं कि एक की जगह दूसरे को रख रखने से यानी जुमला सही होता हो बदल और मुबदल मिन उसको कहते हैं कि जहां बदल की जगह मुबदल मिन और मुबदल की जगह बदल उसको रखने से जुमला सही होता है इन हाजा इन हाजा कि भाई ये है तो ये कौन है तो इन हाज इन अखी ये मेरा भाई है तो हाजा हाजा का मुराद भी अखी और अखी से मुराद हाजा समझे तो ये है चलो वस्तानी ये तो किसकी बात हुई हालत नसेबी में क्यों हो बदल होने की वजह से वस्तानी अयकून खबरन के अखी ये खबर हो फयकून मरफून तो खबर मरफू होती इन की इसलिए वो मरफू होगा वह जुमला तो लहू तिसो तिसों नाजत खबर सानी अल वजह सानी और दूसरा जुमला कौन सा लहू तिसो तिसों नाजतुन ये खबर सानी है दूसरी वजह पर यानी कौन सी दूसरी वजह से क्या मुराद है अला अल वजह सानी यानी मरफू हो अखी मरफू हो तो लहू तिसो तिसुन नाजतुन ये खबर सानी होगा वह खबर अल वजह अव्वल और वो खबर है पहली वजह में यानी क्या कहना चाहते हैं इस से पहली वजह यानी कौन सी अखी को क्या माना था बदल माना था जब बदल माना था तो अखी क्या हुआ मनसूब हुआ अब इन्न की खबर कौन सी लहू तिसुवन तिसुन आजतुन तो ये एक ही खबर है पहली सूरत में पहली सूरत समझे तरकीब समझे तो आसान कि इन्ना हुरपे मुशब्बा बिल फैल आजा मुबदल मिन हूं अखी उसका बदल मुबदल मिन हूं बदल से मिलकर इन्ना का इसम और लहू तिसुआ तिसुना ना जतुन इनकी खबर तो ये कह रहे हैं जो आगे सदर में वह खबर हिल अव्वल और वो यानी कौन सा लहू तिसुआ तिसुना ना जतुन का जुमला पहली वजह में यानी अखीर के मंसूब होने की वजह के अंदर ये पहली खबर यानी एक ही खबर है और जो ऊपर बताया दूसरी उससे पहले क्या कहा खबर उन सानी नल वजी सानी इससे क्या मुराद है दूसरी खबर है हालत रफी मानते अखी को तो अखी एक खबर और लहू तिसुआ तिसुना जतुन दूसरी खबर समझे बहुत अहम बात है ये फिर से एक बार कि अखी ये हालत रफ़ी में भी हो सकता है हालत नसबी में भी हो सकता है हालत रफ़ी में तो क्यों इन की खबर है इस सूरत के अंदर लहू तिसुआ तिसुन नाजतुन ये दूसरी खबर बनेगी दूसरा कि अखी हालत नसबी में भी हो सकता है क्यों हाजा का बदल होने की वजह से और लहू तिसुआ तिसुन नाजतुन ये एक ही खबर रहेगी इन की चलो ये तो किसकी बात पूरी हो गई इस आयत के अंदर जहां पे अखी यानी अस्माय सित्ता में से जो इसम था वो दो वजूह एराब का एहतमाल रखता था हालत रफ़ी का भी हालत नसबी का भी अब मिसाल रहा है कि जिसके अंदर हालत रफ़ी नसबी और जर्री तीनों तीन वजूह एराब का एहतमाल रखता है वसानी का कौल ही ताला दूसरे की मिसाल सानी यानी अवजुहिन जो कहा था ना ऊपर मतन के अंदर ऊपर पहली सतर के अंदर मोहतमिलन लिवजहिन तो हुआ अब मोहतमिलन अवजुहिन के तीन दो से ज्यादा वजहों का एहतमाल रखता हो उसकी मिसाल लाए रब इन्नी ला अमली को इल्ला नफसी वाकी ए मेरे रब मैं मालिक नहीं हूँ मेरे नफ्स का मगर मेरे नफ्स का और मेरे भाई का मैं अपनी जात का और अपने भाई के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं हूँ यह हजरत मूसा सलाम का कलाम है फयाह तमिल अखी सलासत अवजूहिन अखी यहाँ पे तीन वजह का एराब एहतमाल लगता है फयाह तमिल अखी सलासत अवजूहिन यहाँ पे अखी तीन वजूह एराब का एहतमाल लगता है अहद अहदुहा उनमें से पहला यानी हालत पहला कौन सा हालत रफ़ी में हो अखी यहाँ कल लिखा चुका है इसके बारे में अखी यहाँ इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफसी व अखी अब इस आयत के अंदर अखी हालत रफ़ी में भी हो सकता है हालत नसवी में भी हो सकता है और हालत जर्री में भी अब हालत रफ़ी में क्यों हो सकता है उसकी भी तीन किस्में गोया कि इस आयत के अंदर अखी अखी छह तरह के अखी, पर एराब दे सकते हैं यानी अखी के छह तरह यानी अखी छह अहतमाल रखता है यहाँ पे तीन रफी के दो नसबी के और एक जर्री का तो इस आयत के अंदर अखी छह तरह का इस्तेमाल रखता है तीन रफी के दो हालत नसबी के और एक हालत जर्री के हालत रफी में क्यों हो सकता है उसकी तीन वजू समझो तो अखी हालत रफी में होने की तीन वजह पहली वजह ये अमलिकू की जमीर जो है अमलिकू में कौन सी जमीर होती है मुतकलम के सेगे में अन अन की जमीर से ये अखी अन की जमीन पर उसका अतफ है अखी का अतफ किस पर है अन की जमीन पर ये किसने कहा है ये कौल है जमकशरी का जमकशरी इमाम न हुआ है और मुफसर में न हुआ की तफसीर सबसे ज्यादा जमकशरी से मनकूल है तो जमकशरी क्या कहते हैं कि अखी जो है हालत रफी में क्यों है ये इन किस पर है अमलिकू की जमीर पर उसका अतफ है लेकिन उसके सही नहीं माना है जमहूर ने उसको सही नहीं माना उसके दो जवाब दिए सही न मानने की दो वजह इसलिए कि देखो यानी मुतकल्लिम का वो वो सेगा जो हमजा से शुरू होता हो मुतकलिम मबदूब हमजा जिसको कहते हैं मुतकल्लिम का वो सेगा जो हमजा से शुरू होता हो कौन सा मुतकल्लिम हमजा से शुरू होता है मुतकल्लिम का कौन सा सेगा वाहिद मुतकल्लिम मुजारे का वो सेगा जो हमजा से शुरू होता है वो कौन सा सेगा है वाहिद मुतकल्लिम यानी बाल्फाज जिक्र वाहिद मुतकल्लिम या वो मुजारे जो हमजा से शुरू होता हो उस पर इसमें जाहिर का अत्फ नहीं कर सकते समझना क्या कह रहे हैं वो मुजारे जो हमजा से शुरू होता हो या के दूसरे अल्फाज में कहे तो मुजारे वाहिद मुतकलम मुजारे वाहिद मुतकलम पर इसमें जाहिर का अजफ नहीं कर सकते समझे मुजारे का सेगा वाहिद मुतकलम हो तो उस वक्त इसमें जाहिर का अजफ उस पर नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे ला इन्नी ला अमलिकू अमलिकू में अन की जमीर है वो क्या होगा मातुफ अलई और ये अखी क्या होगा मातुफ श्री तो कहते और ये तो इसमें जमीर है लाम लिखू क्या है अन की जमीर है तो जब मुतकलीम वाहिद मुतकलीम हो तो उस पर अखी क्या है इसमें जाहिर है अखी उसका अतफ दुरुस्त नहीं है दूसरी बात कि इसमें जाहिर का अतफ इसमें जमीन पर भी दुरुस्त नहीं है इसमें जमीर समझे ये जो सेगे हैं ना मुजारी के उसमें फाइल कौन सी होती है जिसको फाइल किसको बनाते हम जैसे भाई यम लिखू है तो हिया की जमीर हुआ की जमीर फाइल और तम लिखू है तो अंत की जमीर फाइल तो ये क्या होता है इसमें जमीर इसमें जमीर फाइल होती है और ये क्या है इसमें जाहिर रखी क्या है इसमें जाहिर है तो इसमें जमीर का इसमें जमीर पर इसमें जाहिर का अतफ भी नहीं कर सकते हैं और वो मुजाहरे जो हमजा शुरू होता हो उस पर इसमें जमीर का इसमें जाहिर का अर्ज नहीं कर सकते दो वजह यानी दो तरह यानी दो जवाब दिए कि इन दो वजह की वजह से ये यानी उनका ये मानना ये सही नहीं है ये राजे नहीं है समझे कि भाई मरफू होने की तीन वजह पहली वजह के अखी काशफ अमलिको की जमीर मुतकलम पर हो रहा है ये किसका कॉल है इमाम जमकशरी का जमहूर कहते हैं कि ये सही नहीं है उस क्यों सही नहीं है पहला तो इसलिए कि वो मुजारे जो हमजा से शुरू होता हो यानी मुजारे वाहिद मुतकलम उस पर इसमें जाहिर का अतफ करना सही नहीं है दूसरी बात कि इसमें जमीर पर इसमें जाहिर का अतफ नहीं हो सकता अब यहाँ फाइल तो इसमें जमीर है अन की पोशीदा है तो इसमें जमीर पर इसमें जाहिर अकीकास्फ ये भी नहीं हो सकता इस वजह से ये कॉल राजे नहीं है ये तो कौन सी बात हुई पहला कॉल हालत रफी में क्यों है उसकी पहली वजह कौन सी अमलिकू की जमीर पर अतफ है देखो अहदुहा अकून मरफून के अखी मरफू हो वजालिका मिन सलासती अवजुहन और वो तीन वजह से हो सकता है अहदुहा यकून अतफन अल जमीर फी अमलिकू पहला ये कि पहली हालत रफी में पहले होने की पहली वजह के अखी का अत्फ हो अमलिकू की जमीर पर अखी का अत्फ हो अमलिकू की जमीर पर जकर जमकशरी इमाम जमकशरी ने उसको नकल किया है वफी ही नजर और उसमें एतराज है लिअनल मुजार अलमबदू बिलहमजती लायरफाउल इसम लायरफाउल इसम जाहिर इसलिए कि वो मुजारे जो मबदू बिल हमजा जो हमजा से शुरू होता हो ला यरफो अल इसमत जाहिर इसमें जाहिर को रफा नहीं देता है समझे तर्जुमा इसलिए कि वो मुजारे जो हमजा से शुरू होता हो लायरफो अल इसमत जाहिर वो इसमें जाहिर को रफा नहीं देता है यानी क्या कहा जिसको हमने अपने अल्फाज में मुजारे मबदूब हमजा हो यानी मुजारे वाहिद मुतकलीम पर इसमें जाहिर का अर्थ नहीं कर सकते उसको कह रहे हैं कि वो मुजारे जो हमजा से शुरू होता हो यानी मुजार वाहिद मुतकलीम लायर फाउल इसमें जाहिर इसमें जाहिर को रफा नहीं देता यानी इसमें जाहिर का उस पर अतफ नहीं कर सकते ला तकोलू अकूम उन तुम नहीं कह सकते कि अकूम जैदुन अकूम यानी मैं खड़ा हुआ जैदुन जैद भी खड़ा हुआ ये नहीं कह सकते वह कदाली का ये तो पहली वजह पूरी हुई यानी जवाब जो दिया जमकशरी को पहला जवाब कि क्यों सही नहीं है वो वह कदाली का लायुतफुल इसम जाहिर अल इसमिल मरफू भी इसी तरह यानी कजाली का इसी तरह अतफ नहीं किया जा सकता इसमें जाहिर का इसमें मरफू भी पर इसमें मरफू भी पर इसमें जाहिर का अत्व नहीं किया जा सकता समझे इस बात को पूरा कि भाई यहाँ पे जमकशरी ने कहा है कि अखी का आत्फ है अमलिकू की ज़मीर पर जमू ने कहा कि ये ये सही नहीं है इसलिए कि वो मुजारे जो हमजा से शुरू होता हो यानी मुजारे वाहिद मुतकलिम वो वो इसमें जाहिर को अतफ नहीं उस, इसमें जाहिर को रफा नहीं देता यानी इसमें जाहिर का मुजार वाहिद मुतकलम पर अर्फ नहीं कर सकते दूसरा जवाब कि इसमें जमीर का पर इसमें जाहिर का अर्फ नहीं कर सकते ये तो पहली बात हुई कौन सी हालत रफी में होने की उस पर एक एतराज कर रहे हैं फ़ैन कुलता अगर तू कहे वो आइजन फ़क़ी अल ज़मीर मरफू मुतसिली कि कैसे ज़मीर मरफू मुतसिल पर अतफ़ किया गया है वलम यूजत ताकीद हालांकि कोई ताकीद भी नहीं पाई गई है जैसे कि अल्लाह तला के फरमान लकत कुन तुम अंतुम व आबाकुम फिजल मुबीन के तुम और तुम्हारे आबा अजाद पुरानी गुमराही में थे वाज गुमराही में थे देखो यहाँ पे यानी जवाब क्या दिया जमक शरीफ पर एतराज करने वालों ने क्या कहा था कि इसमें जमीर पर इसमें जाहिर का अत्फ नहीं कर सकते अब ये आयत में वो आयत लाए कि यहाँ पे देखो इस आयत में तो इसमें जमीर पर इसमें जाहिर का अत्फ हो रहा है कुंतुम में जमीर कौन सी फाइल है कुंतुम में कौन फाइल होते हैं अंतुम या अल्फाज दिगर तुम और उस पर अत्व किसका कर रहे हैं आबा हुकुम का देखो लकत कुंतुम अंतुम व आबा हुकुम ये अंतुम जो है अंतुम ये तो ताकीद के लिए है कुंतुम की असल तो कुंतुम व आबा हुकुम है अंतुम तो क्या है ताकिद के लिए है तो देखो इस आयत के अंदर तो इसमें जाहिर कौन सा है आबा हुकुम उसका अत्व किस पर कर रहे हैं कुंतुम की जो जमीर फाइल है मरफू मुतसिल उस पर अत्फ कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि इसमें जाहिर का अत्फ इसमें जमीर पर नहीं कर सकते एतराज समझे कि जमकशरी का जवाब देने वालों ने क्या कहा था कि भाई जमकशरी सही नहीं है क्यों सही नहीं है कि भाई इसमें जमीर का अत्फ इसमें जमीर पर इसमें जाहिर का अत्फ नहीं कर सकते इस आयत के अंदर तो आबा हुकुम इसमें जाहिर है उसका अत्फ कुंदुम की जमीर मरफू मुतसिल है उस पर कर रहे हैं तो उसका जवाब दे रहे हैं कुलतु अल्फसल बैन अलमातूफी वलमातूफी अलही यकूम मकामल ताकीदी के मातूफ और मातूफ अलह के दरमियान में किसी फसल का वाक़ होना वो ताकीद के कायम मकाम होता है मातूफ और मातूफ अलई के दरमियान में किसी किसी फसल का वाक़ होना वो ताकिद के कायम मकाम होता है क्या मतलब मतलब ये कि देखो यहाँ कुंतुम है इसमें जमीर है उसमें फाइल मरफू मुतसिल उस पर किसका कर रहे हैं आबा हुकुम इसमें जाहिर का लेकिन बीच में अंतुम अंतुम लाए अंतुम के जरिए फसला किया किसके दरमियान मातूफ अलई कौन है मातूफ अलई कौन है मातूफ अलई अंतुम कुंतुम के अंदर जो है नहीं जो कुंतुम के अंदर जो अंतुम की जमीर फाइल है वो मातूफ अलई है और मातुफ कौन है आबा हुकुम मातुफ अलई है इसमें जमीर मातुफ है इसमें जाहिर लेकिन बीच में अंतुम के जरिए फसला कर दिया है अंतुम के जरिए फसला और फसला ताकिद के कायम मकाम होता है इसलिए ये इस आयत के जरिए एतराज करना सही नहीं है समझिए एतराज क्या एतराज क्या है भाई तुमने जो कहा था इसमें जमीर का इसमें जमीर पर इसमें जाहिर का अतफ तो सही नहीं इस आयत में अंदर तो कुंतुम में अंतुम की जमीर जो मरफू मुतसिल है वो इसमें जमीर है और उस पर आबा हुकुम इसमें जाहिर का अतफ कर रहे हैं तो कैसे हो गया तो उसका जवाब दिया कि जहाँ अंतुम जो बीच में लाए कुंतुम के बाद ये इस अंतुम के जरिए फसल कर दिया इसमें जमीर इसमें जाहिर के दरमियान में समझे मातुफ अलह और मातुफ के दरमियान में फसल कर दिया और फसल ताकिद के कायम मकाम होता है इसलिए इस आयत के जरिए एतराज सही नहीं है ये तो हालत है रफ़ी की पहली वजह पूरी हुई कौन सी अखी अमलिकू की जमीर मरफू मुतसिल है अना उस पर अतफ करता है अब दूसरा असानिया यकून अतफन अला महल इन्ना व इसमुहा दूसरी वजह रफा होने की कि वो इन्ना और उसके इसम के महल पर उसका अतफ हो अकी का अतफ इन्ना और उसके इसम के महल पर हो वह तकदीरु अखी व अखी कजालिक और तकदीर इबादत होगी वह अखी कजालिक क्या कह रहे हैं कि देखो ऊपर आयत में देखो रब्बी इन्नी लाम लिखो इला नफसी वाखी रब्बी तो मुजा मुजा फिले में कर ऐसे में रब्बी या के साथ था या या हरफे निदा मासूफ है यहाँ और रब्बी मुनादा है हरफे निदा मुनादा मिलकर निदा और ये इन्नी लाम लिखो इला नफसी वाखी है जवाब निदा है हालत रफ़ी के अंदर है अब देखो इन्ना मुशब्बा बिल फेल और या उसका इसम है वो किस हाल में है हालत रफ़ी में है इन्ना मुशब्बा बिल फेल और या उसका इसम है ये पूरा भी इन्न और अपने इसम से मिलकर तो हालत रफी में है क्यों जवाब निदा है इन्न अपने इसम कौन या और ये पूरा जुमला उसकी खबर इसम खबर से मिलकर जुमला बनकर क्या है हालत रफी में है क्यों हालत रफी में जवाब निदा है हरफ निदा कौन या हरफ निदा महसूब रब्बी मुनादा हरफ निदा मुनादा मिलकर निदा और ये पूरा जुमला जवाब निदा है तो जवाब निदा किस हालत में है हालत रफी में तो इनमें और उसका इसम किस हालत में है हालत है रफी में तो उस पर अतफ करेंगे अखी का तो ये भी किस हालत में होगा हालत है रफी में तकदीर इबारत तो क्या होगी रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफसी व अखी का जाली का यानी वह अखी ला अमलिकु इल्ला नफसू मेरा भाई भी अपनी जात के अलावा का मालिक नहीं है वह अखी कजालिक यानी वह अखी ला अमलिकु इल्ला नफसू तो दूसरी वजह क्या इन और उसके इसमा के महल पर अत्फ है जब इन्ना और उसका इसम किस हालत में है हालत रफ़ी में है क्यों जवाब में नीला है इस वजह से की भी किस हालत में होगा हालत रफ़ी में ये दूसरी वजह असानी यकून ये तो हो गया वह सालिस यकून मुक्तदन हुजीफा खबर तीसरी वजह रफ़ी की तीसरी वजह हालत रफ़ी में क्यों हो उसकी तीसरी वजह के मुक्तदा हो अखी क्या है मुक्तदा है और उसकी खबर कजाली का महजूफ है कजाल क्या मुराद वही जो ऊपर दूसरी मिसाल में दिया कि वह अखी लायम लिखू इल्ला नफसू तो अखी मुबतदा है और उसकी खबर महजूफ है मुबतदा है उसकी खबर महजूफ है और मुबतदा हालत रफ़ी में होता है इसलिए अखी हालत रफ़ी में होगा अलहासिल अखी हालत रफ़ी में हो सकता है इतना याद रखो आगे याद नहीं रहे तो अखी हालत रफ़ी में हो सकता है तीन वजह की वजह से एक तो अमलिकू की जमीर पर उसका अथ हो बस और कुछ याद नहीं रखो चलेगा पहला अखी हालत रफ़ी में होने की तीन वजह पहला अमलिकू की ज़मीर फाइल जो है उस पर अखी का अत्फ हो नंबर दो कौन सा इन्ना और उसके इसम के महल पर उसका अत्फ हो तीसरा अखी मुक्तदा है उसकी खबर माजूफ है बस इतनी शॉर्ट में इतना याद रख लो समझे रफ़ी की तीन बातें पूरी हुई क्या कह रहे हैं वल्फर को ये तो हुआ अयकून मुबतदन हुजे वगैरह का अखी हो जिसकी खबर मासूफ है वह तकदीर वकी कजाली आई वाकी लायमली को अल्ला नफसू हो गया वलफर को बैन अलवजह ही नहीं अब ये फर्क बयान कर रहे हैं कि दूसरी और तीसरी वजह के अंदर फर्क क्या है दूसरी वजह में भी तकदीर वारत क्या मानी है हमने वाकी अमली को अल्लाह नफसू तीसरी में भी क्या माना है वाकी अमली को अल्ला नफसू तो फर्क क्या है दोनों के अंदर असल तो हमने तकदीर क्या मानी है वाकी कजालिक मानी है कजालिक की तफसीर की है असर इतना याद रखो क्या तकदीर मानी वाकी कदालिक दूसरी में भी और तीसरी में भी तो दोनों में फर्क क्या रहा वाकी कदालिक सेम हो गया तो कह रहे हैं अल्फर को बैन अलवजहनी अन मातूफ फिल वज हिस्सानी मुफरदानी अल मुफरदनी के दोनों फर्क दोनों वजहों के दरमियान फर्क कौन सी तीसरी दूसरी और तीसरी दूसरी और तीसरी वजह के दरमियान में फर्क यह है कि अनल मातूफ फिल वज हिस्सानी दूसरी वजह के अंदर मातूफ ये दो मुफरत है जिसका यानी दो मुफरत का दो मुफरत पर अतफ हो रहा है दूसरी और तीसरी वजह के दरमियान में फर्क यह है कि दूसरी वजह के अंदर दो मुफरत का अजफ दो मुफरत पर हो रहा है तर्जुमा समझना दूसरी और तीसरी वजह के दरमियान में फर्क यह है कि दूसरी वजह में फिर वज हिस्सा नहीं दूसरी वजह में मुफरदानी अल मुफरदानी अल मातूफ ये इबारत असल है कि दो मुफरत का अजफ दो मुफरत पर हो रहा है क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो दूसरी वजह में हमने तकदीर क्या मानी आखी कजाली और उसका अथफ किस पर माना है इन्न और उसके इसम पर तो वह अखी एक है और कजालिक अखी एक है और कजालिक ये एक है अब उसका अथफ किस पर है इन्नी इन्न और उसके इसम पर तो देखो इन्न ऊपर आयत के अंदर देखो इन्न और उसका इसम एक हुआ और ला अमलिकु ये दूसरा मुफरत हुआ अब तुम कहोगे मुफरत नहीं है ये तो जुमला है इन्ना भी अपने इसमें खबर से मिलकर जुमला बनेगा और अमलिकु ये तो खुद है ही फेयर फाइल मिलकर जुमला बन रहा है तो यहाँ मुफरत से वो मुफरत मुराद नहीं है कौन सा मुफरत जो हम हमारी इस्तेला के अंदर है मुफरत और जुमला वो मुफरत नहीं है यहाँ हुक्मन मुफरत माना गया है समझे तो क्या है अकीकातफ किस पर अकीकातफ इन्ना और उसके इसम पर दूसरी मिसाल में क्या कहा दूसरी वजह में अखी का हस्फ किस पर हो रहा है इन्न और उसके इसम के महल पर तो अखी का हस्फ इस पर इन्न और उसके इसम पर इन्न और उसके इसम के महल पर और कजालिक कजालिक का हस्फ किस पर लामलिक ऊपर तो इन्न का यानी अखी का हत्फ किस पर इन्न और उसके इसम पर कजालिक का हत्फ किस पर लामलिक ऊपर पर तो तो दो मुफरत का हत्फ दो मुफरत पर हो रहा है किसमें दूसरी वजह के अंदर वलफर दो दूसरी और तीसरी वजह के दरमियान में फर्क यह है कि दूसरी वजह के अंदर दो मुफरत का अतफ दो मुफरत पर हो रहा है मुफरत से वो इसलाई मुफरत मुराद नहीं है चलो कमा तकुल जैसे कि तू कहा इन जैदन मुंतलिकन व अमरन जाहिबुन के जैद मुंतलिकन चल रहा है और अमर जा रहा है देखो यहाँ पे इन्ना हर्फ मुशबा बिलफेल जैद उसका इसम और मुंतलिकन खबर अब अमरन है वाह तो अमरन का अर्थ किस पर हो रहा है जैदन पर और जाहिबुन का अर्थ किस पर हो रहा है मुंतलिकुन पर इस वजह से अमरुन को क्या है अमरन को नसब दिया और जाहिबुन को रफा दिया ये तो दूसरी में आवाज हुई वफिल वजी सालिस और तीसरी वजह के अंदर यानी किसमें जिसमें मुफ्तदा माना था और खबर महसूफ मानी थी उसके अंदर जुमलतुन जुमलतिन यानी जुमले का अर्थ जुमले पर हो रहा है समझे पहले में दूसरी वजह के अंदर क्या हुआ था दो मुफरत उसका अत्व दो मुफरत पर हुआ था तीसरी वजह के अंदर जुमले का अत्व जुमले पर क्या कहना चाह रहे हैं पूरा जुमला अखी मुफ्तदा कजाली का खबर मुफ्तदा खबर ये पूरा जुमला हुआ उसका अत्व किस पर मानेंगे इन्ना मुशब्बा मुशबा बिलफेल उसका इसम और अमलिकू से पूरा जुमला उसकी खबर तो जुमले का अत्व जुमले पर समझे तो ठीक है नहीं समझे तो समझने की कोशिश भी मत करना चलो जैसे कि तू कहे इन जैदन मुंतलिकुन व अमरुन जाहिबुन कि इन जैदन मुंतलिकुन जैद को नसब किसने दिया इन्न ने कि इन्न का इसम मुंतलिकुन इसकी खबर इन्न अपने इसम और खबर से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया होकर मातूफ अलई वाव हरफे हत्फ अमरुन मुक्तदा जाहिबुन खबर देखो इसलिए दूसरे में अमरन नसब दिया था देखो ये दोनों मिसाल के अंदर देखो इन्न जैदन मुंतलिकुन पहले में तो यहाँ पे भी इन्न जैदन मुंतलिकुन उसमें कोई फर्क नहीं आया फिर क्या ऊपर वह अमरन जाहिबुन और यहां क्या है वह अमरुन जाहिबुन फर्क समझे अमरन क्या कहा क्यों कहा था ऊपर कि उसका आत्म किस पर था जैद पर यह अमरुन क्यों कहा यह मुस्तकिल जुमला है अलग से मुफ्तदा बन रहा है समझे दोनों फर्क कि भाई दूसरी वजह के अंदर दो मुफरत का अर्थ दो मुफरत पर दो मुफरत कौन से अखी एक मुफरत कजालिक दूसरा मुफरत और यहां पर उसका अत्व किस पर इन्ना और उसका इसम अखी का उसका आत्मा अखी का उस पर और कजालिक का अत्फ किस पर अब लिख ऊपर दूसरी में तीसरे में क्या है जुमले का अत्फ जुमले पर जुमला कौन सा अखी कजाली का मुक्तदा खबर मिलकर जुमला और उसका अत्फ किस पर इन्नी ला अमलिक ऊपर समझे चलो ये किसकी बात पूरी हुई हालत रफी में बात पूरी हुई असानी अयकून मनसूबन अखी हालत नसबी में भी हो सकता है वो कह रहे हैं दूसरी वजह कि अखी हालत नसबी में हो या मनसूब हो और जाली का मिन वजह ही नहीं और वो भी दो वजह से हो सकता है अहद हुमा पहला यानी हालत नसबी की क्यों हो सकता है उसकी पहले पहली वजह अकून मातूफन अला इसमी अन्न ये वो इन्न के इन्न के इसम पर उसका अतफ हो इन्न का इसम कौन सा या जमीर उस पर अखी का अतफ हो इन्ना अपने इसम को क्या देता है नसब देता है तो अखी को भी क्या है मातूफ होने की वजह से क्या आएगा नसब आएगा तकदीर बात कल लिखाई थी क्या थी इन्नी व अखी लानम लिखू क्या होगा इन्नी व अखी लानम लिखू इन्न हरफे मुशब्बा बिल फेल या उसका इसमें जो है मातूफ अल है वाह हरफे अर्फ और अखी मातूफ मातूफ मातूफ वाले मिलकर इन्न का इसम और बाकी तरकीब वही रहेगी समझे क्या नसबी की दो वजह पहला इन्न के इसम पर उसका अट्फ है इन्न के इसम पर उसका अट्फ है जब इन्न का इसम हालत रफी नसबी में होता है तो अखी भी हालत नसबी में तकदीर इबारत होगी इन्नी व अखी ला नम लिखू समझे चलो ये हालत नसबी की पहली वजह वसानी अकून मातूफन अला नफसी और दूसरी वजह हालत नसबी की दूसरी वजह यह है कि अखी का अतफ हो नफसी पर पूरे नफसी पर इबारत देखो अंदर पीछे रब्बी इन्नी ला अमलिकू इल्ला नफसी इल्ला हरफ इस्तना है और नफसी मुस्तना है मुस्तना किसमें है मुस्तना मुफर्रक है तो मुस्तना हालत नसबी में होता है तो नफसी पर अथव है पूरे नफसी के महल पर नफसी पर किसका अथव है अखी का तकदीर इबारत क्या होगी इन्नी ला अमलिकू इल्ला नफसी व इन्नी ला अमलिकू इल्ला अखी समझे इन्नी ला अमलिकू इल्ला नफसी व इन्नी ला अमलिकू इल्ला अखी तो नफसी किस हालत में है नफसी किस हालत में है नसबी में क्यों मुस्तना है मुस्तना है तो आखी क्या है उस पर अत्व है तो वो भी मुस्तना होगा इस वजह से किस बात हालत में होगा नसबी के अंदर होगा समझे तो नसबी की दो वजह एक तो के इन के इसम पर अत्व है और दूसरा नफसी पर अत्व है चलो वह सालिसो यकून मकफूजन और तीसरा ये कि अखी हालत जर्री में हो मकसूर हो जाली का मिनवजिन वाहिन और एक वजह से वह हुआ यकून मातूफन अलियाल मकफूजती बीजाफती नफसी और वो ये कि अखी का अतफा हो या मकफूज या मकसूरा पर जो नफसुन का मुजाफ नफसुन की इजाफत की वजह से और ये कि अखी का अतफा हो या मकसूरा पर नफसुन के मुजाफ इलाई जो कि नफसुन का मुजाफ इलाई या नफसुन की इजाफत की वजह से नफसुन के इजाफत की वजह से तकदीर बाद क्या होगी इन्नी ला अमलिकू इल्ला नफसी व नफसी अखी इन्नी ला अमलिकू इल्ला नफसी या के साथ व नफसी अखी मैं मालिक नहीं हूं मेरा और मेरी जात का और मेरे भाई की जात का तो किस पर अतफ है नफसुन की जो या मुजाफिल या है उस पर समझे तो अब मुजाफिल किस हालत में होता है हालत जर्री में तो ये उसका अतफ है उस पर तो ये भी किस हालत में होगा हालत जर्री के अंदर तो हालत जर्री की एक ही वजह कौन सी नफसिन के अंदर जो या मुजाफिले है उस पर उसका अत्व है मुजाफिले हालत जर्री में तो ये भी हालत जर्री में लेकिन ये कुफी के नज़दीक है कुफी नुहात ये कहते हैं बसरी नुहात कहते हैं कि ये सही नहीं है कि बगैर हरफे जर के इयादे के बगैर हरफे जर के इयादे के बगैर उसका अत्व करना सही नहीं होता है हरफे जर के इयादे के बगैर ऐसी हालत के अंदर अत्व करना सही नहीं होता है वो क्या कह रहे हैं वहादल वजूल आयोजिज हो अलजमहूर बसरीन जमहूर बसरी उसको जायज़ नहीं कहते हैं लियनल फ़ी अल जमीरी अलमकफूजी मिन गैरी यादल खाफिज इसलिए कि उसमें अतफ़ है ज़मीर मकसूर पर ज़मीर खाफिज के याद के बगैर हरफे जर के याद के बगैर हरफे जर को लाना ऐसी जालत में जब मकसूर पर अतफ़ करे देखो नफसून में या जो है इस पर अतफ़ किया या किस हालत में है हालत जर्री में तो कभी हालत जर्री में जो हो उस पर अतफ़ करे तो हरफे जर का ज्यादा जरूरी होता है बसरी नुहात के नजदीक वो आगे पढ़ेंगे हम तो इस वजह से ये सही नहीं है किसके नजदीक बीसरी नुहात के नजदीक और जमहूर क्या कहते हैं कुफर वाला क्या कहते हैं सही है समझे अलासिल खुलासा कलाम फिर से एक बार पूरा पढ़ ले अखी की यहाँ छह वजह हो सकती है हालत रफ़ी में तीन वजह से हालत नसबी में दो वजह से हालत जर्री में एक वजह से हालत रफ़ी में तो तीन वजह से पहला किस पर अमलिकू पर अमलिकों की जमीर पर अतफ हो नंबर दो के इन्ना और उसके इसम के महल पर अतफ हो नंबर तीन अखी मुबतदा हो उसकी खबर मासूफ हो ये तीन वजह चौथी यानी हालत नसीबी में दो वजह से पहला किस वजह से इन्ना का इसम है इन्ना के इसम पर उसका अतफ है देखो पहले में तो इन्ना के इसम इन्ना और उसके इसम के महल पर अतफ था और यहाँ इन्ना के इसम पर इन का इसमें मनसूब तो उसके ऊपर अर्थ करेंगे तो ये भी मनसूब दूसरा क्या नफसी पूरा उस पर अर्थ अब नफसी मुस्तना है मनसूब है तो ये भी मनसूब होगा कितने हुए पांच हुए और छठा हालत जर्री में क्यों एक वजह से कौन सा नफसी की यहाँ पर उसका अर्थ है जब या मुजाफिल मजरूर है तो ये भी मजरूर होगा समझे बस अभी इतना याद रखो अब आगे के अंदर की जो तफसीर याद रहे न रहे यानी उसकी तकदीर इबादत याद रहे न रहे ये पूरा इतना खुलासा कलम किस पर अतफ हो रहा है बस इतना याद रखो अमलिकू दूसरे नंबर पर इन्ना और उसका इसम का महल तीसरे नंबर पर मुफ्तदा खबर मासूब चौथे नंबर पर इन के इसम पर पांचवें नंबर पर नफसी पर और छठे नंबर पर नफसी की मुसाफिला या है उस पर समझे चलो